एन द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम पहले और दूसरे कैसेट में तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्यारह पत्र सुने और अब सुनो बारहवा पत्र कबीलों का गठन प्रिय इंदु मैंने अपने पिछले खतों में तुम्हें बताया है कि शुरू में जब आदमी वजूद में आया तो वो बहुत कुछ जानवर जैसा था धीरे धीरे हजारों वर्षों में वो विकसित हुआ और पहले से बेहतर हो गया पहले वो अकेले ही शिकार करता होगा जैसे कुछ जंगली जानवर आज भी करते हैं बाद में उसने पाया कि और आदमियों के साथ एक झुंड में रहना ज्यादा समझदारी की बात है और ये ज्यादा सुरक्षित भी है अगर कई लोग एक साथ रहते तो ज्यादा मजबूत हो जाते और जानवरों या दूसरे आदमियों के हमलों का ज्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे जानवर भी तो अपनी सुरक्षा के लिए अक्सर झुंडों में रहा करते हैं भेड़ बकरियां और हिरन यहां तक कि हाथी भी झुंडों में ही रहते हैं जब झुंड सोता है तो उनमें से कुछ जागते रहते हैं और पहरा देते हैं तुमने भेड़ियों के झुंड की कहानियां पढ़ी होंगी रूस में जाड़ों के दिनों में वे झुंड बनाकर चलते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तो वे आदमियों पर हमला कर देते हैं जाड़ों में उन्हें ज्यादा भूख लगती भी है एक अकेला भेड़िया शायद ही कभी आदमी पर हमला करे लेकिन उनका झुंड इतना मजबूत हो जाता है कि वो कई आदमियों पर भी हमला कर सकता है तब आदमियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और अक्सर बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों और भेड़ियों में दौड़ हो जाती है इस तरह शुरू के आदमियों ने सभ्यता की ओर जो पहला कदम उठाया वो था झुंडों में रहना इन्हीं को कबीला कहा जाता है लोग साथ मिलकर काम करने लगे उनमें सहयोग बढ़ा हर एक आदमी को पहले अपने कबीले के बारे में सोचना पड़ता और बाद में अपने बारे में अगर कबीले पर कोई संकट आता तो हर आदमी को कबीले की सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ता और अगर कोई आदमी कबीले के लिए काम न करता तो उसे निकाल बाहर किया जाता था अब अगर लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें कायदे से काम करना पड़ेगा अगर हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करेगा तो वो कबीला बहुत दिन नहीं चलेगा इसलिए किसी एक को मुखिया बनना पड़ता जानवरों के झुंडों में भी तो मुखिया होते हैं कबीलों में वही आदमी मुखिया चुना जाता था जो सबसे ताकतवर होता था क्योंकि उस जमाने में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती थी अगर एक कबीले के सदस्य आपस में लड़ने लगें तो कबीला नष्ट हो जाएगा इसलिए मुखिया इस बात पर नज़र रखता था कि लोग आपस में न लड़ने पाएं हाँ एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ सकता था और लड़ता था ये तरीक़ा उस पुराने तरीक़े से बेहतर था जब हर एक आदमी अकेला ही दूसरे से लड़ता था शुरू शुरू के कबीले असल में बड़े बड़े परिवार रहे होंगे उसके सब सदस्य एक दूसरे के रिश्तेदार होते होंगे लेकिन धीरे धीरे परिवार बढ़ते गए और कबीले बड़े होते गए कबीलों के बनने से पहले आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा न उसके पास कोई घर था न कपड़े थे हाँ शायद जानवरों की खाले पहनने को मिल जाती हूं और उसे बराबर लड़ना पड़ता रहा होगा अपने रोज के भोजन के लिए या तो उसे जानवरों का शिकार करना पड़ता होगा या जंगली फल और मेवे जमा करने पड़ते होंगे उसे अपने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते होंगे प्रकृति भी उसे दुश्मन ही मालूम होती होगी जो कभी ओले बरसाती है कभी बर्फ और कभी भूचाल लाती है बेचारा एक गुलाम की तरह डरा सहमा हुआ इस धरती पर घूमता होगा क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता था अगर ओले गिरते तो वो समझता कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ उसे मारने की कोशिश कर रहा है वो डर जाता और बादल में बैठे हुए उस व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ करना चाहता जिसने उस पर ओले और पानी और बर्फ गिराई थी लेकिन उसे खुश करे तो कैसे न वो बहुत समझदार था न होशियार था उसने सोचा होगा कि बादलों में बैठा देवता उसी की तरह होगा और खाने की चीज़ें पसंद करता होगा इसलिए वो कुछ मांस रख देता या किसी जानवर की बलि देकर उसे छोड़ देता जिससे देवता आकर उसे खा सके वो सोचता था कि इस तरह वो ओले और वर्षा बंद करवा सकता है हमें यह सब बेवकूफ़ी मालूम होती है क्योंकि हम जानते हैं कि वर्षा ओले या बर्फ़ क्यों गिरती है जानवरों की बलि देने से उसका कोई संबंध नहीं है लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो इतने नासमझ हैं कि अब तक वही काम किए जाते हैं मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा प्रिय इंदु पिछले खत में मैंने तुम्हें बताया था कि शुरू के आदमी कैसे हर एक चीज से डरते थे और यह मानते थे कि हर विपत्ति का कारण क्रोधित और ईर्ष्यालु देवता है उन्हें ये काल्पनिक देवता हर जगह दिखाई देते थे जंगल में पहाड़ों में नदी में बादलों में देवता के बारे में उनका ख्याल था कि वो दयालु और नेक नहीं है बल्कि बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है जो बात बात पर झल्ला उठता है और क्योंकि वे उसके गुस्से से डरते थे इसलिए वे हमेशा उसे रिश्वत देने की कोशिश करते रहते थे खास तौर पर भोजन के रूप में जब कोई बड़ी विपत्ति आ जाती थी जैसे भूचाल या बाढ़ या महामारी जिसमें बहुत से लोग मर जाते थे तो वे और डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज है और उन्हें खुश करने के लिए वे मर्दों औरतों की बलि चढ़ाते यहाँ तक कि अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाकर देवताओं को अर्पित कर देते ये बड़ा भयानक लगता है लेकिन डरा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है इसी तरह मजहब शुरू हुआ होगा इसलिए मजहब पहले डर के रूप में आया और जो बात डर से की जाती है वो बुरी होती है तुम्हें मालूम है कि मजहब हमें बहुत सी अच्छी बातें भी सिखाता है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के मजहबों के बारे में पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मजहब के नाम पर क्या-क्या अच्छे और बुरे काम किए गए हैं बहरहाल यहां इस बात पर गौर करना मजेदार होगा कि मजहब का ख्याल कैसे पैदा हुआ बाद में हम देखेंगे कि ये कैसे बढ़ा लेकिन चाहे ये कितना ही बढ़ा हो आज भी हम लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे का सिर फोड़ते देखते हैं और बहुत से लोगों के लिए मजहब आज भी डरने की चीज़ है वो काल्पनिक देवताओं को खुश करने की कोशिश में मंदिरों में भेंट चढ़ाने और जानवरों की कुर्बानी करने में अपना वक्त ज़ाया करते हैं इस तरह शुरू के आदमी को बड़ी सख्त जिंदगी जीनी पड़ी उसे अपना भोजन रोज तलाश करना पड़ता था नहीं तो वो भूखा रहता उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था किसी के लिए ये भी मुमकिन नहीं था कि एक बार में बहुत सा खाना जमा कर ले और फिर बहुत दिनों तक आराम से पड़ा रहे जब कबीले बने तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई कबीले के सब सदस्य मिलकर उससे ज्यादा खाना जमा कर लेते थे जितना कि वे अलग अलग कर सकते थे तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग करना हमें बहुत से कामों में मदद करता है जो हम अकेले नहीं कर सकते एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते लेकिन कई आदमी मिलकर उसे आसानी से उठा सकते हैं दूसरी बड़ी तरक्की जो उस जमाने में हुई वो खेती थी जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि चींटियों में खेती की शुरुआत मिलती है मेरा मतलब यह नहीं है कि चींटियां बीज बोती हैं हल चलाती हैं या फसल काटती हैं मगर वे जो कुछ करती हैं वो खेती जैसा ही होता है अगर उन्हें कोई ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज वे खाती हों तो वे बड़ी होशियारी से उस झाड़ी के आसपास की घास निकाल देती हैं जिससे वो झाड़ी ज्यादा फल फूल सके शायद किसी जमाने में आदमियों ने भी यही किया होगा जो चींटियां करती हैं तब उन्हें यह समझ नहीं थी कि खेती क्या चीज है इसे समझने में उन्हें बरसों लगे होंगे और तब उन्होंने बीज बोना शुरू किया होगा खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना आसान हो गया आदमियों को खाने के लिए सारे दिन शिकार नहीं करना पड़ता था उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा आराम से कटने लगी इसी जमाने में एक और बड़ी तब्दीली हुई खेती से पहले हर आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका काम था औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी लेकिन जब खेती शुरू हो गई तो तरह तरह के काम निकल आए खेतों में काम था शिकार करने का काम था और गाय बैलों की देखभाल करना भी जरूरी था औरतें शायद गाय बैलों की देखभाल करती थीं और गायों को दूहती थीं कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे कुछ दूसरी तरह का आज तुम्हें दुनिया का हर आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है कोई डॉक्टर है कोई सड़कें और पुल बनाने वाला इंजीनियर है कोई बढ़ई कोई लोहार कोई घर बनाने वाला राजमिस्त्री है कोई मोची या दर्जी वगैरह हर आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशों के बारे में वो कुछ नहीं जानता इसे काम का विभाजन या बंटवारा कहते हैं अगर कोई आदमी एक ही काम करे तो उसे अच्छी तरह कर सकेगा बजाय बहुत से काम करने के आज दुनिया में काफी काम का बंटवारा दिखाई देता है इस तरह हमने देखा कि जब खेती शुरू हुई तो पुराने कबीलों में धीरे-धीरे काम का बंटवारा शुरू हुआ खेती से पैदा हुई तब्दीलियां प्रिय इंदु अपने पिछले खत में मैंने तुम्हें काम के विभाजन के बारे में कुछ बताया था बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर बसर करता था उस समय काम बटे हुए नहीं थे हर आदमी शिकार करता था और उसे मुश्किल से भरपेट खाने को मिल पाता था कामों का बंटवारा सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच हुआ होगा मर्द शिकार करते होंगे और औरतें घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की देखभाल करती होंगी जब लोगों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली सबसे पहले कामों का बंटवारा हुआ कुछ लोग शिकार करते और कुछ खेतों की देखभाल करते और हल चलाते जैसे जैसे समय बीता आदमी ने नए नए पेशे सीखे और उनमें दक्षता प्राप्त की जमीन जोतने का दूसरा रोचक परिणाम यह हुआ कि लोग गांवों और कस्बों में आबाद होने लगे खेती से पहले लोग इधर-उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था वो जहां जाते वहीं शिकार कर सकते थे और उन्हें अपनी गायों बकरियों और दूसरे जानवरों की वजह से इधर-उधर घूमना पड़ता भी था इन जानवरों को चरने के लिए चरागाह की जरूरत थी कुछ दिनों तक एक जगह पर चरने के बाद जमीन इतनी उपजाऊ नहीं रह जाती थी कि जानवरों के लिए काफी घास पैदा कर सके इसलिए सारे कबीले को दूसरी जगह जाना पड़ता था जब खेती शुरू हुई तो लोगों के लिए अपनी जमीन के पास रहना जरूरी हो गया जिस जमीन को उन्होंने जोता था जिसमें बीज बोए थे वे उसे छोड़कर तो नहीं जा सकते थे इसलिए वो एक फसल से दूसरी फसल तक काम करते चले गए और इस तरह गांव और शहर बढ़ते गए खेती से एक और बड़ा परिवर्तन आया जिससे आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी खेती करके जमीन से खाना पैदा करना सारे दिन शिकार करने से कहीं ज्यादा आसान था इसके अलावा जमीन से इतनी पैदावार होती थी जिसे एकदम खत्म नहीं किया जा सकता था इसलिए उसे हिफाजत से रख दिया जाता एक और मजे की बात सुनो जब आदमी निपट शिकारी था तो वो कुछ जमा नहीं कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम बस ये समझो कि वो किसी तरह पेट भर लेता था उन दिनों बैंक भी नहीं थे जहां वो अपने रुपए या दूसरी चीजें रख सकता उसे तो भोजन कमाने के लिए रोज शिकार करना पड़ता था खेती से उसे एक फसल में इतनी ज्यादा पैदावार मिल जाती थी कि उसे खर्च भी नहीं कर सकता था इस फालतू खाने को वो जमा कर लेता इस तरह फालतू अनाज की शुरुआत हुई लोगों के पास फालतू खाना इसलिए जमा हो जाता था क्योंकि वे उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं और लोग वहां रुपया जमा करते हैं और चेक द्वारा निकाल भी सकते हैं यह रुपया कहां से आता है अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह सब फालतू रुपया है यानी ऐसा रुपया जिसे लोग एक बार में खर्च नहीं करना चाहते और इसलिए इसे वे बैंक में रखते हैं आज वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा फालतू रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह फालतू रुपया आता कहां से है ये इसलिए नहीं आता क्योंकि एक आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसे बहुत फालतू पैसा मिलता है और जो पसीना बहाता है उसे उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता कितना बुरा इंतजाम है ना बहुत से लोग ये मानते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में इतने गरीब लोग हैं अभी शायद तुम ये बात समझ न सको इसलिए इसे लेकर परेशान न हो थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी इस वक्त तो तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि खेती से आदमी उससे ज्यादा पैदावार करने लगा जितना एक बार में खाया जा सकता है ये फालतू पैदावार जमा कर ली जाती थी उस जमाने में न रुपए थे न बैंक जिनके पास बहुत सी गायें भेड़ें ऊंट होते थे वही अमीर कहलाते थे खानदान का सरगना कैसे बना प्रिय इंदु मुझे डर है कि मेरे खत कुछ पेचीदा होते जा रहे हैं लेकिन हमारे चारों ओर की जिंदगी बहुत पेचीदा है पुराने जमाने में लोगों की जिंदगी बहुत सादी थी लेकिन अब हम उस जमाने पर आ गए हैं जब जिंदगी का पेचीदा होना शुरू हुआ अगर हम धीरे धीरे अपनी खोज जारी रखें और उन तब्दीलियों को समझने की कोशिश करें जो आदमी की जिंदगी और समाज में पैदा होती गईं तो हमारी समझ में बहुत सी बातें आ जाएंगी और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन बातों को कभी नहीं समझ सकेंगे जो आज दुनिया में हो रही हैं हमारी हालत उन बच्चों जैसी हो जाएगी जो किसी अंधेरे जंगल में भटक गए हों यही वजह है कि मैं तुम्हें जंगल के ठीक पिछले सिरे पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम इसमें से अपना रास्ता ढूंढ निकालें तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे मसूरी में राजाओं के बारे में पूछा था कि वो क्या थे और वो राजा कैसे बने इसलिए हम उस पुराने जमाने पर एक नजर डालेंगे जब राजा बनने शुरू हुए पहले पहल वो राजा नहीं कहलाते थे लेकिन अगर हम उनके बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करेंगे तो हमें उनके आरंभ का पता चल जाएगा मैं कबीलों के गठन के बारे में तुम्हें बतला चुका हूं जब खेतीबाड़ी शुरू हुई और काम का बंटवारा हुआ तो ये जरूरी हो गया कि कबीले का कोई व्यक्ति काम के बंटवारे की व्यवस्था करे इससे पहले भी कबीलों में ऐसे आदमी की जरूरत होती थी जो दूसरे कबीलों से होने वाली लड़ाइयों में उनका नेतृत्व करे नेता अक्सर कबीले का सबसे बूढ़ा आदमी होता था वो कबीले का बुजुर्ग कहलाता था सबसे बुजुर्ग होने की वजह से ये समझा जाता था कि वो सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और होशियार है ये बुजुर्ग कबीले के और सदस्यों की ही तरह होता था वो दूसरों के साथ काम करता था और जितनी खाने की चीजें पैदा होती थीं वे कबीले के सब सदस्यों में बांट दी जाती थीं हर चीज कबीले की होती थी आजकल की तरह नहीं होता था कि हर आदमी का अपना अलग मकान है पैसा है और दूसरी चीज़ें हैं आदमी जो कुछ कमाता था वो सब में बांट दिया जाता था क्योंकि वो सब कबीले का समझा जाता था कबीले का बुजुर्ग या सरगना इस बंटवारे का इंतज़ाम करता था लेकिन धीरे धीरे तब्दीलियां हुईं खेती के आ जाने से नए नए काम निकल आए और सरगना को अपना बहुत सा वक्त इंतजाम करने में और यह देखने में कि लोग अपना अपना काम ठीक तौर पर करते हैं या नहीं खर्च करना पड़ता था धीरे धीरे सरगना ने कबीले के और आदमियों की तरह का काम करना छोड़ दिया इस तरह वो कबीले के और लोगों से काफी अलग हो गया अब काम का बंटवारा भी दूसरे ढंग से होने लगा सरगना इंतजाम करता था और लोगों पर हुक्म चलाता था जबकि दूसरे लोग खेतों में काम करते थे शिकार करते थे या लड़ाइयों में जाते थे और अपने सरगना के आदेशों का पालन करते थे अगर दो कबीलों में लड़ाई ठन जाती तो सरगना और भी ताकतवर हो जाता क्योंकि लड़ाई के जमाने में बगैर किसी नेता के अच्छी तरह लड़ना मुमकिन नहीं होता इस तरह सरगना की ताकत बढ़ती गई जब इंतजाम करने का काम बहुत बढ़ गया तो सरगना के लिए अकेले सब काम करना मुश्किल हो गया उसने अपनी मदद के लिए दूसरे लोगों को चुना इस तरह इंतजाम करने वाले बहुत से लोग हो गए लेकिन सरगना एक ही रहा इस तरह कबीला दो हिस्सों में बट गया इंतजाम करने वाले और मामूली काम करने वाले अब सब लोग बराबर नहीं रहे जो लोग इंतजाम करते थे उनका मामूली मजदूरों पर अधिकार बढ़ गया अगले खत में मैं बताऊंगा कि किस तरह सरगना के अधिकार बढ़े